ओशो सुख और शांति डिस्कोर्स नंबर नाइन मेरे प्रिय आत्मा बहुत से प्रश्न आपके दो दिनों में बाकी रह गए हैं कुछ के संबंध में मैंने चर्चा की है जो शेष है उनमें सबसे पहले पूछा है मैंने आपको कहा प्रेम को विकसित करें स्वयं पर अन्य पर और परमात्मा पर क्यों क्योंकि मैं प्रेम को ही प्रार्थना मानता हूं और साथ ही मैंने ये भी कहा कि शून्य हो जाए तो प्रश्न पूछा है कि एक और मैं कहता हूं प्रेम करें और दूसरी ओर कहता हूं शून्य हो जाए तो इन दोनों में संबंध क्या होगा निश्चित ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और किसी को भी दिखाई पड़ेगा कि प्रेम करने में और शून्य होने में विरोध है लेकिन मैं आपको कहूंगा जो प्रेम करता है वही केवल शून्य हो सकता है और जो शून्य हो जाता है वही केवल पूर्ण प्रेम को करने में समर्थ हो पाता है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेम मनुष्य का स्वभाव है और शून्य भी मनुष्य का स्वभाव है जब हम शून्य हो जाते हैं तो आत्मा का दर्शन होता है और जब अपनी आत्मा का दर्शन होता है तो चारों ओर अपनी ही आत्मा का सब में दर्शन होने लगता है वही प्रेम और यदि हम सबके भीतर प्रेम को फैला दें तो भी तो भी उसका दर्शन प्रारंभ हो जाता है जो भीतर बैठा हुआ है दुनिया में सत्य को जानने के दो रास्ते हैं एक रास्ता है खुद शून्य हो जाए तो भी सत्य जान लिया जाता है क्योंकि शून्य हो जाने पर सब चुप हो जाने पर मौन हो जाने पर भीतर जो है उसकी अनुभूति शुरू हो जाती है लेकिन इस भांति जो शून्य होगा शून्य के बाद पाएगा कि उसके जीवन में प्रेम के अनंत झरने फूट रहे एक दूसरा रास्ता है सबके प्रति प्रेम से भर जाए इतने प्रेम से भर जाएं कि आपको स्मरण न रह जाए कि आप भी हैं क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं तो स्वयं का बोध विलीन हो जाता है अगर स्वयं का बोध बना रहे तो आप प्रेम में नहीं है जब स्वयं का बोध विलीन हो जाता है और जब आप इतने प्रेम से भर जाते हैं कि आपको ख्याल भी नहीं होता कि मैं हूं तब आप पुनः शून्य हो जाते हैं प्रेम के विस्तार से भी व्यक्ति शून्य हो जाता है और शून्य की गहराई में जाके व्यक्ति प्रेम के विस्तार को उपलब्ध हो जाता है कहीं से भी जाए असल में असल में महत्वपूर्ण बात शून्य होना है और जैसा मैंने आपको कहा प्रेम का अर्थ ही है अहंकार के ऊपर उठ जाना या अहंकार से शून्य हो जाना जिसके भीतर अहंकार प्रगाढ़ है वो कभी प्रेम नहीं कर पाता जिसके भीतर जितना कम अहंकार और दम है वो उतना ही ज्यादा प्रेम कर पाता है जो जितना ज्यादा प्रेम को करेगा उतना उसका अहंकार विलीन हो जाएगा और शून्य हो जाएगा तो प्रेम को और शून्य को अलग न समझें वे एक ही बात के दो नाम हैं एक ही बात के दो नाम है अपने से शुरू करें तो शून्य से करना होगा और अन्यों से शुरू करें तो प्रेम से करना होगा फिर ये भी स्मरण रखें पदार्थ को जानना हो तो बुद्धि के द्वारा पदार्थ जाना जाता है इसलिए वैज्ञानिक केवल बुद्धि के माध्यम से पदार्थ का विश्लेषण करता है खोज करता है लेकिन आत्मा को जानना हो चेतना को जानना हो तो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता उसे जानना हो तो प्रेम के द्वारा जाना जाता है इसलिए वैज्ञानिक की बजाय प्रेमी और कभी कहीं मनुष्य की आत्मा को ज्यादा जान लेते हैं प्रेम भी जानने का एक द्वार है जैसे बुद्धि जानने का एक द्वार है लेकिन बुद्धि से केवल पदार्थ पकड़ में आता है प्रेम से वो भी पकड़ में आ जाता है जो पदार्थ नहीं है प्रेम को जितना विकसित करेंगे उतना ये जगत चैतन्य से चिन्ह में परमात्मा से भरा हुआ प्रतीत होने लगेगा एक पत्थर को भी प्रेम करे एक पौधे को भी प्रेम करे धीरे धीरे पाएंगे कि प्रेम आपकी आंख खोल रहा है और उस पौधे में या पत्थर में अब केवल पत्थर और पौधा दिखाई नहीं पड़ता वहां भी प्राण के दर्शन होने शुरू हो गए असिसी में एक फकीर हुआ फ्रांसिस जंगलों में जाता तो पौधों से गले मिलता और पक्षियों से बात करता और पक्षियों से चर्चाएं करता और उनसे प्रेम के संदेश भेजता धीरे धीरे पक्षी उसकी बातें सुनने लगे और फ्रांस से जहां भी जाता कोई भी पक्षी अचानक उसके पास इकट्ठे हो जाते लाखों लोगों ने ये देखा है कि पक्षी फ्रांसिस की बात सुनते हैं लोग बोले पागलपन है ये कैसे सुनते होंगे और फ्रांसिस किस भाषा में उनसे बोलता होगा तो जब संत फ्रांसिस से पूछा तुम किस भाषा में बोलते हो तो उसने कहा दुनिया में और सब भाषाएं तो अलग अलग हैं प्रेम की भाषा एक ही है अगर दूसरी भाषाओं में बोले तो जो उन भाषाओं को नहीं समझते वो नहीं समझ सकेंगे लेकिन प्रेम की भाषा अकेली भाषा है जिसे सब समझते हैं सारे मनुष्य जमीन के प्रेम की भाषा को समझते हैं और जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त भी जो प्राणी हैं वे भी प्रेम की भाषा को समझते हैं और जो और ग्रह जानते हैं वो जानते हैं कि पदार्थ के भीतर भी जो परमात्मा व्याप्त है वो भी प्रेम की भाषा को समझता है तो स्मरण रखें और सब भाषाएं मनुष्य की है प्रेम परमात्मा की भाषा है क्योंकि उसे सब समझते हैं सब जानते हैं जब तक आप दूसरी भाषाओं में ही बोलते रहेंगे तब तक आप मनुष्य के घेरे के ऊपर नहीं उठ सकते और जब आप प्रेम की भाषा में बोलने लगेंगे आप पाएंगे आपने परमात्मा में प्रवेश कर दिया क्योंकि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं जो केवल परमात्मा की है और ये भी स्मरण रखे कभी ख्याल किया है जब आप किसी के प्रति प्रेम से भर जाते हैं तो जो भाषा आप बोलते हैं एकदम बंद हो जाती है कभी ये ख्याल किया है अगर मेरे पास आए सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनको देखता हूँ जब वो प्रेम से भर जाते हैं तो सिर्फ उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और बोल बंद हो जाता है मैं बहुत हैरान हुआ जब प्रेम भरता है तो भाषा बंद क्यों हो जाती है असल में प्रेम दूसरी भाषा है जब एक भाषा बोलना शुरू करेंगे तो दो भाषाएं साथ कैसे चल सकती है इसलिए जो भाषा हम रोज रोज बोलते हैं एकदम बंद हो जाती है प्रेम जब जागता है इसलिए प्रेम एकदम मौन हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है प्रेम इसलिए कुछ नहीं बोल पाता कि प्रेम तो खुद ही भाषा है वो तो खुद ही बोलना है उसे और किसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है इस प्रेम को फैलाने के लिए इसलिए कहा कि वो अकेली भाषा है जो सारे जगत से आपको जोड़ देती है और शून्य के इसलिए कहा कि जितना आप शून्य होंगे क्योंकि शून्य होंगे किससे मैंने कहा विचार से शून्य हो जाएं, शब्द से शून्य हो जाएं, अर्थ हुआ मनुष्य की भाषाओं से शून्य हो जाएं। विचार और शब्द और शास्त्री मनुष्य की भाषाएं हैं इनसे शून्य हो जाएंगे जब मनुष्य की सारी भाषाओं से शून्य हो जाएंगे तो फिर कौन सी भाषा शेष रह जाएगी वही भाषा जो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है जो परमात्मा की है शून्य हो जाएंगे तो प्रेम शेष रह जाएगा और प्रेम से भर जाएंगे तो शून्य हो जाएंगे ये दोनों एक ही बातें हैं इनमें कोई भी भेद नहीं है ऊपर से देखने में भेद दिखता हो थोड़ा गहरा देखेंगे समझेंगे तो कोई भेद उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा मैं समझता हूँ मेरी बात ख्याल में आई होगी ये भी पूछा है कि मैं कहता हूँ प्रेम करें लेकिन वीतराग पुरुष तो किसी को प्रेम नहीं करते इससे ज्यादा झूठी और कोई बात नहीं हो सकती वीतराग पुरुष ही केवल प्रेम करते हैं बाकी लोग कोई प्रेम नहीं करते आप इस भूल में न रहे कि आप प्रेम करते हैं प्रेम करना इतना आसान नहीं प्रेम से और बड़ी कोई ऊंचाई नहीं है और जिन घाटियों में हम पड़े हुए हैं वहां प्रेम की क्या खबर होगी वहां कोई प्रेम की खबर नहीं जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम जरा भी नहीं है धोखा है क्यों जब तक राग है तब तक प्रेम नहीं हो सकता है साधारणतः लोग समझते हैं राग और प्रेम एक ही है राग और प्रेम विपरीत है जहां राग है वहां प्रेम नहीं होता क्योंकि राग का अर्थ ही है कि मैं कुछ मांगता हूं और पाना चाहता हूं दूसरे से कुछ पाना चाहता हूं और जहां पाने की इच्छा है जहां दूसरे से कुछ पाने की इच्छा है वहां प्रेम कैसे होगा प्रेम तो केवल देना जानता है मांगना नहीं जानता प्रेम तो सहज दान है मांग नहीं है जहां मांग है वहां प्रेम नहीं होता जहां मांग बीच में आ जाती है प्रेम विलीन हो जाता है आप अपने प्रेम को पहचाने ख्याल करें वहां सिवाय मांग के और कुछ भी नहीं होगा जहां मांग आ जाती है वहां प्रेम भी बंद हो जाता है और जहां मांग आ जाती है वहां प्रार्थना भी बंद हो जाती है क्योंकि प्रार्थना भी प्रेम है जब आप मंदिर में खड़े होकर भगवान से कुछ मांगते हैं समझ गए आपको भगवान से कोई प्रेम नहीं है जो आप मांग रहे हैं उससे आपको प्रेम होगा भगवान से कैसे प्रेम होगा अगर धन मांग रहे हैं तो धन से प्रेम है और भगवान से इसलिए मांग रहे हैं कि शायद वो दे सके अगर भगवान धन नहीं देगा तो आप वहां मांगेंगे जहां धन मिलता है भगवान को छोड़ देंगे अगर पुत्र मांग रहे हैं तो पुत्र से प्रेम है भगवान से क्या प्रेम होगा जो हम मांगते हैं वो बता देता है हमारा प्रेम कहां है जो आपकी मांग है वहां आपका हृदय है तो आप सोचे मानवीय संबंधों में जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आपका प्रेम उससे नहीं है अगर आप किसी तरह की कामुक तृप्ति चाहते हैं किसी तरह की वासना की तृप्ति चाहते हैं तो आपका प्रेम वासना से होगा कामना से होगा सेक्स से होगा उससे कैसे होगा जिससे आप मांग रहे हैं वो तो गौण है और साधन मात्र है जिसे आप प्रेम कहते हैं उसमें आप दूसरे मनुष्य को साधन बना रहे हैं अपनी इच्छाओं की तृप्ति का ये शोषण है प्रेम नहीं है इसलिए मेरा मानना है जो प्रेम से भर जाएगा वो सेक्स से तत्ण मुक्त हो जाएगा प्रेम की परिपूर्णता ब्रह्मचरी है लेकिन ऐसे पागल लोग हैं जो समझते हैं कि प्रेम को हटा लो तो सेक्स से मुक्त हो जाएंगे जो लोग प्रेम को हटा लेते हैं वो सेक्स से ही भर जाते हैं उनका चिंतन सिवाय उसके और कहीं नहीं जाता है इसलिए पापी जो पाप करते हैं सन्यासी रात सपनों में वही करते रहते हैं उससे कुछ बहुत भेद नहीं होता पापियों के दिन में और सन्यासियों की रातों में समानता होती है पापियों के कामों में और सन्यासियों के सपनों में समानता होती है क्योंकि दिन भर जिसे वो दबाते हैं रात भर उसको अनुभव करते हैं इसलिए सन्यासी सोने से डरते हैं और सारी दुनिया में सन्यासी ये कहते हैं सोना बड़ी बुरी चीज है नींद बहुत बुरी चीज है नींद से क्यों डरते हैं नींद से डरते हैं कि जिसको दिन भर दबाया है वो रात को नींद में गर्दन दबाने लगता है उस वक्त ताकत नहीं पड़ती नींद में बेहोश होते हैं वही सारी वासनाएं मन को पकड़ने लगती है वही सारी कामनाएं घेरने लगती हैं इसलिए नींद से सन्यासी डरते हैं और ऐसे सन्यासी जो चाहते हैं कि बिल्कुल नींद ना आए किसी तरह नींद से बच जाए तो सबसे बच गए लेकिन इस तरह बचने से कोई बच सकता है ये कोई बचना है मैं आपको कहता हूं जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा उतना ही ज्यादा काम और सेक्स विलीन हो जाएगा और राग विलीन हो जाएगा उस समय आपकी कोई मांग नहीं होगी और तब आपका प्रेम उस पर होगा जिससे आपकी कोई मांग नहीं है मैंने सुना एक फकीर एक बादशाह से मिलने गए उसके गांव के लोगों ने उस फकीर से कहा कि बादशाह तुम्हें प्रेम करता है और तुम जाओ और उसको कहना हमारे गांव में एक स्कूल खोल दे तो वो गया जब वो गया तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में वो पीछे खड़ा हो गया कि वो नमाज पढ़ ले तो मैं फिर कहूँ बादशाह ने नमाज पढ़ी और कहा है परमात्मा मेरे राज्य को और बड़ा कर मेरे धन को और बढ़ा मेरे यश के क्षितिज और बड़े कर मुझे और ऊपर उठा बादशाह ये कह के उठा उसने देखा फकीर वापस लौट रहा है उसे फकीर की पीठ दिखाई पड़ी उसने चिल्ला के कहा कि आए भी और चले भी बात क्या है उसने कहा कि मैं तो सोचा तुम प्रार्थना कर रहे हो मैं तो समझा परमात्मा से तुम्हें प्रेम थे लेकिन मैंने जो सुना उसने मेरी आंखें खोज नहीं मैंने पाया तुम भी भिखारी हो और मांग रहे हो जो भिखारी है वो प्रेम नहीं कर सकते और ना प्रार्थना कर सकते हैं स्मरण रखे वे केवल भीख मांग सकते हैं चोरी कर सकते हैं छीन सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम तो दान है वो तो देना है प्रेम तो केवल वही लोग कर सकते हैं जो भिकमंगे नहीं है सम्राट है जो बादशाह है जो किसी से कुछ मांगते नहीं जिन्हें सब उपलब्ध हो जो केवल बांटते हैं एक भारतीय सन्यासी अमेरिका में था अब वहां के प्रेसिडेंट ने उससे आके पूछा कि मैंने सुना है कि तुम अपने को बादशाह कहते हो और सन्यासी ने कहा निश्चित ही क्योंकि केवल सन्यासी ही बादशाह है भाई तो बड़ी हैरानी की बात है दो लंगोटी तुम्हारे पास मुश्किल पे है और अपने को बादशाह करते हो उस सन्यासी ने कहा जिसकी कोई मांग नहीं वो बादशाह है और जो मांगता है वो भिकारी है सन्यासी कुछ मांगता नहीं और स्मरण रखें जो मांगता नहीं वो ही केवल देने में समर्थ हो पाता है जो मांगता है वो कैसे देने में समर्थ होगा जिसके अभी मांग बाकी है वो देना कैसे देते कैसे उससे बन पड़ेगा जिसकी मांग खत्म हो जाती है वो देता है प्रेम दान है महावीर या बुद्ध जिनको हम कहते हैं वीतराग पुरुष थे ये मत समझें कि वो प्रेम से खाली हो गए जब वो सबसे खाली हो गए तो अकेला प्रेम ही शेष रह गया और जब उन्होंने सब मांगना बंद कर दिया वो सब रागों के ऊपर और मांगों के ऊपर उठ गए तब उनसे दान होने लगा तब वो देने लगे जैसे सूरज से प्रकाश झरता है वैसे ही ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति से प्रेम झरता है प्रेम परीक्षा है प्रेम कसौटी है अगर प्रेम ना झरता हो तो समझना कि ज्ञान किताबों और शास्त्रों से आया है वो ज्ञान सच्चा नहीं है अगर ज्ञान भीतर से आया हो तो उसकी परीक्षा और कसौटी प्रेम होगी इसलिए जगत में जब भी कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसका जीवन और आचरण प्रेम को उपलब्ध हो जाता है प्रेम ही नीति है क्योंकि जब प्रेम होता है तो किसी के साथ अनिति करनी असंभव हो जाती है प्रेम ही अहिंसा है क्योंकि जब प्रेम होता है तो किसी को दुख देना असंभव हो जाता है और प्रेम ही अपरिग्रह है और प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही सब कुछ है क्योंकि प्रेम हो तो सब ठीक हो जाता है एक फकीर था अगस्तीन एक गांव से गया और लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें मुझसे लोग पूछते हैं जगह जगह हम क्या करें अब भी मुझसे पूछा है कि साधुओं को हम कैसे आहार दें और भी पूछा है कि हम कैसे उठे कैसे बैठे क्या पहने क्या खाएं जगह जगह लोग पूछते हैं अगस्तीन से भी उस गांव के लोगों ने पूछा हम क्या करें अगस्तीन ने कहा एक छोटा सा काम करो उन्होंने कहा क्या अगस्तिन का प्रेम करो और बाकी की फिक्र छोड़ दो अगर तुमने प्रेम किया तो प्रेम के बाद तुम जो भी करोगे वो ठीक होगा और अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो तुम जो भी करोगे वो ठीक कभी हो नहीं सकता है यही मैं कहता हूं स्वयं के भीतर ज्ञान को उपलब्ध हो और बाहर के जगत के लिए प्रेम को उपलब्ध हो बाहर प्रेम को फैलने दें और भीतर स्वयं को जगने दे ज्ञान और प्रेम जब दोनों संतुलित होते हैं तो जीवन संगीत बन जाता है जब दोनों संतुलित होते हैं तो जीवन संगीत बन जाता है जहाँ ज्ञान और प्रेम की ज्योति सांस चलती है वहां जीवन परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है इसलिए ये मत सोचे कि भीतराग व्यक्ति जो है उसमें प्रेम नहीं होता उसमें ही प्रेम होता है और जो रात से भरा व्यक्ति है उसमें प्रेम नहीं होता है प्रेम बड़ी दूसरी चीज है प्रेम से पावन और पवित्र और कुछ नहीं और मनुष्य के अनुभव में प्रेम से ज्यादा डिवाइन और दिव्य और कुछ नहीं है फिर एक प्रश्न पूछा है कि मैं कहता हूं ध्यान करें तो पूछा है किसका ध्यान करें ये बिल्कुल स्वाभाविक है ये बिल्कुल ठीक ही है कि जब भी हम कहेंगे ध्यान करें तो ख्याल उठता है किसका ध्यान करें जब मैं कहूं प्रेम करें तो ख्याल उठता है किससे प्रेम करें जब मैं कहूं ज्ञान को उपलब्ध हो तो प्रश्न उठेगा किसके ज्ञान को उपलब्ध हो असल में हमको ये पता नहीं है कि प्रेम ज्ञान या ध्यान संबंध रिलेशनशिप नहीं है अवस्थाएं हैं स्टेट्स ऑफ माइंड है इसे थोड़ा समझना होगा साधारणतः हम सोचते हैं कि जब भी मैं प्रेम करूंगा तो किसी से करूंगा ये गलती है समझ लो कि मैं प्रेम करने वाला हूं और मुझे जंगल में छोड़ दिया तो आप पूछेंगे फिर कैसे प्रेम करेंगे निश्चित ही ये लगता है कि जब भी हम प्रेम करेंगे तो किसी से करेंगे लेकिन ये समझिए कि जब मैं किसी से प्रेम करूंगा तो प्रेम करने के पहले प्रेम मेरे भीतर होना चाहिए ना प्रेम मेरी अवस्था होनी चाहिए तब तो मैं प्रेम करूंगा एक कुएं से हम पानी खींचते हैं लेकिन कुएं में पानी होना चाहिए ना खींचने के पहले और हम न खींचे तो कुएं में पानी नहीं रह जाएगा हम न खींचे तो भी पानी रहेगा हम खींचे तो भी पानी रहेगा खींचने के पहले भी पानी है खींचने के बंद होने के बाद भी पानी है पानी तो कुएं के भीतर है आपके खींचने से उसका कोई संबंध नहीं अगर मेरे भीतर प्रेम है आप आए तो आपको प्रेम मिलेगा आप ना आए तो प्रेम शून्य में झरता रहेगा लेकिन प्रेम मेरे भीतर नहीं रह जाएगा मत समझे अगर कोई भी ना रह जाए और मेरे भीतर प्रेम हो तो झरता रहेगा एक दिए को हम जलाएं उसके आसपास तो लोग निकलेंगे तो दिए का प्रकाश उनके ऊपर पड़ेगा अगर कोई नहीं निकलेगा तो क्या समझते हैं दिया बुझ जाएगा दिया जलता रहेगा प्रकाश खाली जगह में पड़ता रहेगा प्रेम एक अवस्था है रिलेशनशिप नहीं संबंध नहीं उसका किसी से कोई संबंध नहीं है उसकी तो भीतरी अवस्था है कोई उसके सामने आ जाता है तो उस पर पड़ जाता है कोई नहीं आता तो नहीं पड़ता ऐसे ही ध्यान भी एक अवस्था है ये मत सोचें कि राम का ध्यान करें कृष्ण का करें महावीर का करें बुद्ध का करें इसका करें उसका करें ध्यान का संबंध किसी से नहीं है ध्यान की अवस्था का मेरा जो अर्थ है वो है चित्त की परिपूर्ण शांत और निस्तरंग स्थिति अगर किसी का ध्यान कर रहे हैं तो वो तो तरंग हो गई उसमें निस्तरंगता कैसे होगी वो तो स्वयं एक तरंग हो गई अगर आप किसी का ध्यान कर रहे हैं किसी के ध्यान के अर्थ हो गया आप विचार कर रहे हैं ध्यान नहीं ध्यान और विचार में अंतर है विचार का अर्थ है किसी का होगा विचार बिना किसी के हुए कभी नहीं हो सकता विचार हमेशा रिलेशनशिप है विचार कभी भी स्टेट ऑफ माइंड चित्त की दशा नहीं है हमेशा संबंध है विचार हमेशा किसी का होगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप विचार कर रहे हो और कहें कि मैं किसी का विचार नहीं कर रहा सिर्फ विचार कर रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता विचार तो हमेशा किसी का होगा उसका तो संबंध किसी से होगा लेकिन ध्यान में आप हो सकते हैं बिना किसी के क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है कि सब विचार बंद राम का और कृष्ण का और महावीर का भी बंद सब विचार जहां बंद हो गए हैं उस निर्विचार अवस्था में जो चित्त की दशा है उसका नाम ध्यान है तो ध्यान को ऐसा मत सोचें कि किसी का ध्यान करना है प्रचलित बातें ऐसी हैं कि हम राम का ध्यान कर रहे थे कहना चाहिए हम राम का विचार कर रहे थे ध्यान नहीं ध्यान का अर्थ ही हुआ जहां कोई नहीं है और मैं अकेला हो गया मैं कहानी कहता रहा हूं मुझे प्रीति कर रही है वहां एक साधु हुआ है रिंझा है एक पहाड़ के किनारे खड़ा था सुबह सुबह और कुछ लोग उसके मित्र वहां घूमने गए हैं और मित्रों ने देखा कि रिंझाई वहां खड़ा क्या करता होगा एक मित्र ने कहा कि कभी कभी वो वहां खड़ा होकर देखता है उसकी गाय खो जाती है तो उसे खोजता है कि गाय कहाँ है तो पहाड़ी पर चढ़ के देख लेता है शायद गाय खो गई है और वो देख रहा है उसके दूसरे मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं मालूम होता उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ खोज रहा है उसे देख के लगता है कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है कभी कभी कोई मित्र साथ आते हैं और घूमने में पीछे छूट जाते हैं तो वो रुक के उनकी राह देखता है तीसरे ने कहा मुझे तो ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि एक भी दफा उसने लौट के पीछे नहीं देखा और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ खोज रहा है क्योंकि उसकी आंखें कुछ खोजती सी मालूम नहीं होती मुझे तो ऐसा लगता है कि वो परमात्मा का ध्यान कर रहा है वे तीनों सहमत नहीं हो सके उन्होंने कहा उचित हो कि हम चले और उस साधु रंझाई से पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो वे उसके पास गए वे उसके पास गए और उन्होंने एक एक ने पूछा पहले ने पूछा क्या आपकी गाय खो गई है और उसको खोज रहे हैं उस रिंझाई ने कहा नहीं मेरी गाय नहीं खोई असल में मेरी कोई गाय ही नहीं है असल में मेरा कुछ है ही नहीं खोएगा क्या खोता उनका है जिनके पास कुछ हो मेरा कुछ है ही नहीं दूसरे ने पूछा तब फिर क्या आप किसी मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं रंझाई ने कहा नहीं किसी मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहा असल में मेरा कोई मित्र नहीं है क्योंकि जिसका कोई शत्रु ना हो उसका मित्र कैसा है कृष्ण ने पूछा तब तो निश्चित है कि आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं उसने कहा बिल्कुल नहीं क्योंकि जब तक किसी का ध्यान हो तब तक परमात्मा की परमात्मा में पहुंचने कैसे हो सकता है जब तक किसी का ध्यान हो तब तक परमात्मा में पहुंचेंगे कैसे परमात्मा में तो तभी पहुंचा जाता है जब सबका ध्यान छूट जाता है जब सबका विचार छूट जाता है जब सबका ख्याल छूट जाता है और जब चेतना विश्राम में पहुंच जाती परम विश्राम में तब वो परमात्मा में पहुंचते तो मैं परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या कर रहे हो कुछ तो जरूर कर रहे हो गए उसने कहा कि नहीं मैं केवल खड़ा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा just standing and doing nothing ये ध्यान की अवस्था है कि मैं सिर्फ खड़ा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा समझे सोचे अगर आप सिर्फ खड़े हैं या सिर्फ बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे चित्त शांत है उसकी सारी दौड़ बंद है उसका सारा चक्कर बंद है कुछ भी नहीं कर रहे बस हैं सिर्फ मौजूद हैं और कुछ भी नहीं कर रहे ख्याल करें स्मृति को दौड़ाएं उस तरफ कि जब आप अकेले रह गए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तभी तभी जहां आप हैं उस अवस्था का नाम ध्यान है तो मैं किसी का ध्यान करने को नहीं कहता ध्यान में जाने को कहता हूं और ठीक से समझे तो मैं किसी को प्रेम करने को नहीं कहता प्रेम में जाने को कहता हूं जब आप चले जाएंगे प्रेम में तो सब तो प्रेम हो जाएगा और जब जब चले जाएंगे ध्यान में तो वहां पहुंच जाएंगे जो सबका स्रोत सबका उद्गम वो सबका केंद्र है जहां से सब पैदा होता है और जहां सब विलीन हो जाता है तो मेरे ध्यान को समझ लेंगे वो विचार नहीं है वो निर्विचार अवस्था है फिर पूछा है कि ज्ञान दर्शन और चरित्र ये त्रयी रूप योग मुक्ति पद के प्राप्ति का उपाय तीर्थंकरों ने बतलाया क्या आप इससे सहमत हैं ध्यान इन तीनों रत्नों से युक्त होना आवश्यक है इस संबंध में आपका क्या मत है तीर्थंकरों ने क्या बतलाया है ये कहना कठिन है तीर्थंकरों के संबंध में हम सब क्या बतलाते रहते हैं ये समझना आसान है तीर्थंकरों ने क्या कहा है ये बिना तीर्थंकर हुए नहीं समझा जा सकता असल में जिस चेतना के तल से जो बात कही जाती है उसी तल पर समझी जा सकती है और जब नीचे की चेतना के तल पर उस बात को समझने की कोशिश होती है तो सब विकृत हो जाता है तीर्थंकरों के शब्द जो हमें उपलब्ध है वो ठीक ठीक उनके नहीं है बल्कि उन लोगों के हैं जिन्होंने उन्हें रिकॉर्ड किया लिखा और ये लोग अत्यंत नीचे तल के लोग थे और दुनिया में जब भी ईश्वरीय अनुभूति के कोई भी शब्द कहे गए हैं तो अक्सर वे नीचे के तल के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं और ये भी स्मरण रखें कि जब आप उनको पढ़ते हैं तब भी आप वही अर्थ नहीं समझ पाते जो उनमें है आप वही अर्थ समझ पाते हैं जो आप समझ सकते हैं इसे फिर से दोहरा दूं जब आप गीता को कुरान को बाइबल को महावीर को या बुद्ध के वचनों को पढ़ते हैं तो आप वही अर्थ समझ पाते हैं जो आप समझ सकते हैं अर्थ आपकी चेतना के तल से ऊपर कभी नहीं हो सकता शब्द किसी के हो अर्थ आपका ही होता है वाणी किसी की भी हो उसमें से जो आप निकालते हैं व्याख्या वो आपकी ही होती है मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप सोचते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वही आप सुन रहे हैं तो आप गलती में होंगे क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं अगर आप वही सुन लें तो आप सब एक ही बात सुन लेंगे लेकिन जरा आप एक दूसरे से विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने एक ही बात नहीं सुनी आप सब विवाद में पड़ जाएंगे कि मैंने क्या कहा है ये इस बात की सूचना है आपने वो सुना जो आप सुन सकते थे दूसरे ने वो सुना जो वो सुन सकता था हर आदमी अपने कहीं सुन रहा है और समझ रहा है इसलिए कृपा करें तीर्थंकरों को पैगंबरों को बीच में न घसीटे उनकी व्यर्थ फजीरत हो जाती है और कुछ भी नहीं होता अच्छा हो कि आप अपने कई समझें कि बात क्या है ये जो कहा गया है कि ज्ञान दर्शन और चरित्र इन तीन की जो साधना कर लेता है वो मुक्ति पद को उपलब्ध हो जाता है ये जरूर कहा होगा लेकिन जो समझा गया है वो ये समझा गया है कि ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों को याद कर लो और दर्शन का अर्थ है कि श्रद्धा उत्पन्न कर लो और चरित्र का अर्थ है इतने गज कपड़ा रखो इतना खाना खाओ इतनी देर सो इस तरह उठो इस तरह बैठो ये चरित्र है इतने इतने शास्त्रों को याद कर लो ये ज्ञान है और श्रद्धा ले आओ तीर्थंकरों पर अवतारों पर तो ये दर्शन है निश्चित ही अलग अलग धर्म का अलग अलग ज्ञान होगा क्योंकि अलग अलग धर्म की अलग अलग किताब है जो मुसलमान के लिए ज्ञान है वो जैनी के लिए अज्ञान है और जो ईसाइयों के लिए अज्ञान है वो हिंदुओं के लिए ज्ञान है तो दुनिया में बहुत ज्ञान है जबकि ज्ञान एक ही हो सकता है शास्त्र अलग अलग ज्ञान देते हैं इसलिए पक्का समझ लें शास्त्रों में ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान तो एक ही हो सकता है शास्त्रों को याद करके जो हम सीख लेते हैं उसे हम ज्ञान समझ लेते हैं जबकि वो ज्ञान नहीं मात्र स्मृति है मेमोरी है लर्निंग है ये कई प्रकार यहाँ किए जा रहे हैं ये आपसे ज्यादा ज्ञानी है क्योंकि मैं जो कहूंगा जितना अच्छा आप रख सकेंगे उससे ज्यादा अच्छा ये रख लेंगे ये स्मृति जो आपको पैदा हो जाएगी भूल से इसको ज्ञान मत समझ लेना ये केवल रिकॉर्डिंग है ये प्राकृतिक मस्तिष्क कर रहा है ये अप्राकृतिक मस्तिष्क कर रहा है इसमें कोई बहुत भेद नहीं है ये ज्यादा उचित है क्योंकि ये भूल चूक बिल्कुल नहीं करता <laughs> आज नहीं कल सब मशीनें ईजाद हो जाएंगी और आपको स्मरण रखने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाएगी तब आप बिल्कुल ज्ञान से शून्य हो जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई ज्ञान नहीं होगा किताबों के कचरों को जो ज्ञान समझ लेता है वो गलती में है ये ज्ञान नहीं है और तीर्थकरों पर श्रद्धा लाना दर्शन नहीं है क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद पर श्रद्धा ले आओ तो दर्शन हो गया और ईसाई कहते हैं कि ईसा पर श्रद्धा ले आओ तो सब ठीक हो गया और अगर जैनों से पूछे तो वो कहेंगे ये सब मिथ्या श्रद्धा है ईसा पर या मोहम्मद पर ये कोई ज्ञानी है ये कोई तीर्थंकर है ये कोई सर्वज्ञ है ये तो कुछ भी नहीं है ये तो मिथ्या ज्ञानी है ये उनके लोग कहेंगे कि सब मिथ्या ज्ञानी है ये जो झगड़े हैं श्रद्धा के अगर दूसरे पे श्रद्धा लाइएगा झगड़ा निश्चित है क्योंकि कौन किस पे लाएगा वो लड़ने लगेगा इसलिए श्रद्धा का ये अर्थ भी नहीं हो सकता श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जिसमें झगड़ा और विवाद खड़ा ना हो तभी वो सम्यक होगी और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो एक हो तभी वो सम्यक होगा और जिसको चरित्र कहते हैं वो तो और अद्भुत बात हो गई है चरित्र को तो हम इतने नीचे स्तर पर उतार लाए हैं कि विवेकानंद को अमरीका में कहना पड़ा कि हिंदुस्तान का सारा धर्म चौके चूल्हे का धर्म हो गया है और विवेकानंद को कहना पड़ा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मंदिरों की कोई जरूरत नहीं पाक शास्त्र काफी होगा क्या खाना क्या पीना